तुम मेरे पास लोहे की चादरें लाओ यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को बराबर कर दिया तो कहा आग दहकाओ यहां तक कि जब दहकाकर उसे आग कर दिया तो कहा अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं उस दीवार पर उंडेल दूं